उत्तन यहाँ तक हो गया था यहाँ तक पूरा हो गया था अन्य व्यतिरिक शास्त्र न्यायभ्य मूल कारण है आत्मिकत्व अविद्या एक अविद्या सत्य संसार सत्यम अविद्या अभाव संसार अभाव इस अन्य व्यतिरिक्त शास्त्र अन्याय है युक्ति है अज्ञान से ही भ्रम होता है रज्जु के अज्ञान तो सर्प भ्रम रजो ज्ञान है तो सर्प नष्ट हो तो सर्प नहीं रहता है ये युक्ति है संसार आत्मिक तो अविद्या स्वप्न में भी जागृत अवस्था में भोजन किया उसके अज्ञान से स्वप्न में देखता है भूखा भय होता है जो जागृत अवस्था में आया स्वप्न भय समाप्त हो जाता है साच न कर्मणा विनिवर्तते सा अविद्या कर्म से निवृत्त नहीं होगी कर्म उसका विरोध नहीं है अविद्या की निवृत्ति तो विद्या से रज्जो ज्ञान की निवृत्ति रज्जु ज्ञान के बिना और कुछ भी करे निवृत्त नहीं होती है रज्जु ज्ञान होते ही अज्ञान की निवृत्ति सर्प नहीं है अतो विद्यायाः प्रयोजनेन साध्य साधन लक्षण संबंध विद्या ब्रह्म विद्या ये ग्रंथ के द्वारा प्रतिपाद्य उपनिषद शब्द का अर्थ विद्या ग्रंथ उसका प्रतिपादक होने से उसको भी उपनिषद कह देते तो जो उपनिषद है विद्या उसका संबंध प्रयोजन के साथ प्रयोजन है मुख्य अत्यंत की मूल निदान निवृत्तिया निवृत्ति परमानंद की अभिव्यक्ति ये प्रयोजन के साथ विद्या का फल संबंध साध्य साधन लक्षण साध्य क्या होगा मुख्य मुख्य है असाधन है विद्या विद्या साधन साध्य मुख्य है वो साध्य है विद्या के द्वारा परमानंद की अभिव्यक्ति है कोई उत्पत्ति नहीं है साध्य का अर्थ नहीं कि मोक्ष की उत्पत्ति होगी मोक्ष नित्य है अनित्य नहीं है तो अज्ञान की निवृत्ति होने से नित्य मोक्ष की अभिव्यक्ति परमानंद की अभिव्यक्ति रूप साध्य है साध्य साधन रक्षण संबंध किसका संबंध किसके साथ विद्याया प्रयोजन प्रयोजन के साथ विद्या का संबंध भाष्य में रहा संबंध से एवं भूत प्रयोजन उक्त यहाँ तो हुआ था प्रयोजन चर्चा उपनिषद आत्यंतिक संसार निवृत्ति ब्रह्म प्राप्ति लक्षण संबंध से एवं भूत प्रयोजन न ऐसा जो ब्रह्म प्राप्ति संसार निवृत्ति रूप प्रयोजन उसके साथ विद्या का संबंध उक्त संबंध हो गया साध्य साधना अतो यथोक्ताधिकारी विषय प्रयोजन संबंधाया विद्याया करतल न्यस्त आमल प्रकाशकत्वेन विशिष्टाधिकारी विषय प्रयोजन संबंधा एतावल्यो भवन्ति इति यतो तदिकार्य विषय प्रयोजन संबंधाय विद्या विद्या का विद्या के लिए अधिकारी मुमुक्ष अधिकारी विरक्त और विषय हो गया ब्रह्म जीव ब्रह्म एकता प्रयोजन है साधि साधन इसे प्रयोजन संबंधा प्रयोजन संबंध यस्या प्रयोजन संबद्धा ऐसे कहीं पाठ है प्रयोजन के साथ जिसका संबंध दोनों पर टिप्पणी दिया अत्र गोपाल टीका तो संबद्धा इति पाठो गम्यते प्रयोजन संबद्धा प्रयोजन न संबद्धा और प्रयोजन संबंध कहें तो प्रयोजन न संबंधो यस्या भौरी करना विद्या का संबंध प्रयोजन के साथ अधिकारी विषय प्रयोजन के साथ अधिकारी विषय प्रयोजन ही संबंधो यस्या विद्या सा विद्या विद्या प्रकाशकत्वेन ये विद्या का प्रकाशक है ग्रंथ किस प्रकार प्रकाशक करतर न्यस्त आमल कबत हाथ में का आमल का फल है अमला करतल न्यस्त हाथ में रखा गया उसमें कोई संशय नहीं भ्रांति नहीं होती स्पष्ट दिखता है मालूम है इसी प्रकार विद्या का एक ग्रंथ प्रकाशक है ऐसे विद्या होनी चाहिए संशय विपर्य रहित उसका ये प्रकाशक प्रकाश है कि विद्या का जनक है होने से विशिष्ट अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध है वह वल्य तो ये ग्रंथ जो वल्ली है शाखा है अलग-अलग वल्ली है ये वल्लियों का भी संबंध हुआ विद्या का जो संबंध विद्या का जो संबंध है अधिकारी आदि विद्या का प्रतिपादक ग्रंथ होने से ये वल्ली नाम ग्रंथ का विशिष्ट अधिकारी विषय प्रयोजन संबद्धा विशिष्ट अधिकारी मुमुक्ष है विषय जीव ब्रह्म एकत्व प्रयोजन मुख्य इसके साथ संबद्ध ही एता वल्य भवंती जो वल्ली कठ वल्ली शाखा ये होती है अतस्ता यथा प्रतिभानम व्याचिक्षमहे इसे यथा प्रतिभानम प्रतिभानम अनतिक्रम्य भानम अनतिक्रम्य यथा प्रतिभानम अनतिक्रम्य यथा प्रतिभानम जैसे हमको भान होता है ऐसे व्याख्यान करेंगे तत्र आख्यायिका विद्या स्तुत्यर्थ आख्यायिका रूप से ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन है इसलिए विद्या की स्तुति के लिए ऐसे विद्या इस इतने महाभाग्य विद्या है ऐसे यमराज ने दिया नचिकेता को और यमराज ने बहुत प्रलोभ्यमान करने पर भी नचिकेता ग्रहण नहीं करके कहता हुई मैं जानना चाहता हूँ तो आख्यायिका विद्या की स्तुति के लिए उपनिषद में जहाँ सब ऐसी आख्यायिका है आख्यायिका ऐसे कथा में तात्पर्य नहीं पहले से घटना होकर के उसके बाद उपनिषद में आया उपनिषद अनादिकाल से नित्य है इसके पहले से घटना हुई उसके बाद लिखा गया ये अर्थ नहीं है अनादिकाल से ऐसे ही है किंतु घटना कभी से यमराज नचिकेता संबंध नहीं हुआ था ये भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि यदि कुछ अन्य प्रमाण से निश्चित हो नहीं हुआ था अथवा प्रमाण से ज्ञात हो तो तात्पर्य नहीं होगा ऐसे ज्ञात नहीं निश्चित नहीं हुआ था करके तो उपनिषद में तो अनादिकाल से है जैसे काल से है ऐसे कभी घटना बाद में हुई होगी आगे भी कितने बार हो सकती है नहीं हुई ऐसा नहीं कह सकते हैं यह अर्थ नहीं कि इससे पहले संवाद होने के बाद उपनिषद में आया लिखा गया ये तो नहीं होगा उपनिषद काल से है तो जैसे उपनिषद में है इसी प्रकार संवाद कई बार हुई हो कई बार हुआ होगा अभी भी हो सकता है नहीं हुआ था भी नहीं कह सकते हैं और ये तात्पर्य नहीं ऐसे ग्रंथ में आया पहले संवाद होने के बाद ऐसा मानेंगे तो वेद में अनादित्व नहीं रहेगा शादी हो जाएगा क्योंकि संवाद होने के बाद वेद में आया संवाद के पहले वेद में नहीं था तो वेद अनादि कैसे होगा इसलिए अनादि काल से वेद में है जैसे वेद में है क्योंकि सर्वज्ञ कल्प है वेद परमात्मा के सदृश तो ऐसे जैसे वेद में इस प्रकार नहीं जानते किंतु इस प्रकार घटना भविष्य पुराण में आ गया आगे क्या होगा चतुर्विश शिष्यस्तु शंकर अवतरिष्यति व्यास ने कहा है आगे चार शिष्य के साथ अवतरण करेंगे रामायण में इस रचना हुई आगे होगा इसी प्रकार हो सकता है सर्वज्ञ है ऐसे वेद में जैसे है ऐसे आगे कितने बार हुआ होगा आख्यायिका विद्या स्तुति के लिए ओम उशन हवे वाज वेद सर्ववेद समददौ तस्य नचिकेता नाम आस उसन हवै वाज सर्वसः उसनते वस कांतो धातु से बनेगा उसन कामेमान कामना करता हुआ कामना से वाज सर्वसः वाज सर्वस है वाज अन्न अन्नदान निमित्त सब जिसका है वाज सर्वा उसका पुत्र है वाज सर्वस अर्थात उनके पिता बहुत अन्नदान करते थे अन्नदान के निमित्त कीर्ति जिनकी वाजमन्नम सब तजन्य कीर्ति ऐसे वाजसवा और उनका पुत्र का नाम हो गया वाजसवस दान में सबसे अन्नदानम महादानम विद्यादानम अतः परम अन्नदान सबसे बड़ा दान है क्योंकि अन्य कुछ देने पर कोई मना नहीं करेगा जितने दो तो ले लेंगे और दो तो ठीक है और दो तो ठीक है किंतु अन्न खिलाते समय भोजन करते समय मना सब लोग करते हैं पहले तो खाएंगे फिर देने के बाद और दो, तो, और दो, तो, और दो, तो कितने खाएंगे फिर बाद में मना करेंगे खिलाने वाला हाथ जोड़ते महाराज और एक लीजिए खाने वाले हाथ जोड़ते नहीं भाई नहीं खा सकते नहीं दो मना कर देंगे किंतु अन्य कोई पदार्थ दो कोई मना नहीं कर नहीं करे छता अच्छा, तीन चार और एक मिला ठीक है रख लो लेते समय बोले किसको दे देंगे देंगे या नहीं देंगे किंतु लेते समय तो ले लो जो चीज मिलता है अधिकार ग्रहण किंतु अन्न खाते कैसे पेट भर गया तो फिर मना करना पड़ता है तृप्त हो जाते हैं ये महादान है और उसमें ज़्यादा अधिकारी का विचार नहीं है अन्य दान करते समय देश काल से पात्र से पात्र में दान देना जिसको दान करते हो जो दुरुपयोग करता है तो दान देने वाले का दोष होता है कोई भी यदि अपने पिता माता भी पुत्र यदि गलत मार्ग में उपयोग करता है तो उसको रुपया नहीं देते नहीं देना चाहिए यदि गलत मार्ग में उपयोग किया तो पुत्र के हित नहीं चाहते पिता माता पुत्र को बिगाड़ते हैं पुत्र गलत मार्ग में चलता है उसको यदि रुपया दिया तो पुत्र की हानि पिता माता करते हैं इसे जो जानने वाले विवेकवान उसको नहीं देते हैं उसके प्रति कठोर होकर नहीं देंगे तब तो यदि देते हैं तो पुत्र बिगड़ता है दान भी करते समय यदि गलत उपयोग करता है उसको नहीं देना चाहिए अधिकारी को विचार करने करे सतपात्र में दान दिया जाता है सतपात्र दियते दानम किंतु अन्न दान करने के लिए भूखा है खा सकता है खाता है तो उसको अन्न देना है और कुछ नहीं कोई भी हो अब ज़्यादा विचार करने का नहीं हाँ ठीक है अन्य के अपेक्षा ऐसे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मचारी सन्यासी उसके बाद ब्रह्मनिष्ठ इनको दे तो अधिक फल है ये जरूरी है सामान्य अन्नदान की अपेक्षा ऐसे कोई तड़ंग वेद ब्राह्मण उसकी अपेक्षा ऐसे कोई सन्यासी है अपने आश्रम धर्म पालन करते हैं उसमें भी कोई ब्रह्मनिष्ठ है इसलिए सब लोग अन्नदान करते हैं सोते कोई इतने लोग में इतने महात्मा में कोई एक महात्मा कभी ब्रह्मनिष्ठ भोजन करेगा कभी एक ब्रह्मनिष्ठ को यदि दान कर लिया तो सारा ब्रह्मांड को दे दिया सबको दे दिया यत्रियस्य गृह भुंक्ते तस्य भुंक्ते स्वयं हरि हरिस्य गृह भुंक्ते तस्य जगत जगतत्रयम यति सन्यासी जो अपने साधन भजन में लगा हुआ है ऐसे जिसके घर में अथवा जिसका अन्न भोजन करते हैं उसका तो स्वयं भगवान हरि भोजन करते हैं क्योंकि ऐसे सन्यासी नारायण रूप है और जब भगवान जिसका अन्न भोजन किया तस्य भूंते जगत त्रयम सारा जगत परमात्मा के रूप है इसे परमात्मा भोजन किया तो सारा जगत को खिला दिया इसलिए अन्नदान सब करते हैं तो अन्नदान के निमित्त उनकी कीर्ति थी उनके पिताजी का उनका पुत्र का नाम बाजसवस हो गया कामना करते हुए सर्व वेदसम ददो विश्व इति जाग होता है सर्व में सर्व दान करना है ऐसे कर्म करने के बाद सारे कुछ धन को दे देना है सारे धन देने पर पुत्र आदि कैसे रहेंगे तो पुत्र के लिए जितने आवश्यक स्वल्प रह करके बाकी सब दे देना है दे दिया सब किंतु सब सर्वत देना चाहिए उसमें फिर थोड़ी बुद्धि में ऐसा चतुराई आ जाती है तो पुत्र के नाम पर कह करके तो अच्छी अच्छी संपत्ति को रख दिया और देना है इसे जो काम का नहीं पहले उसको दे दो कोई ऐसे करते हैं अपने पास जो काम का नहीं जरूरत नहीं करते उसको दे दो महात्मा को हमारे जरूरत नहीं तो क्या करेंगे साधु को दे दो ऐसे दे देते हैं जो जरूरत नहीं उसको दे दो इसी प्रकार वो दिया दिया तो पुत्र देखा तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस नचिकेतस शब्द है नचिकेता नाम का पुत्र था वो देखा आगे कहेंगे वो देखा ये तो मेरे नाम कह करके अच्छे अच्छे गो को रखते हैं और ऐसे बूढ़ी-बूढ़ी जो कि काम का नहीं हो सको सो दे देते हैं वस कांता टीका में वस कांतो इत्यस्य सत्रंतम रूपम उसन वस धातु कांति का आदि इच्छा सत्र प्रत्यय करने वसन उसन हो गया संप्रसारण हो गया उसन उस अग्र सत्रीय उसत उसन हो गया इच्छा करते हुए काम है माना कामना करते हे वाज श्रवस श्रव कार्य कीर्ति वो कीर्ति भाष्य में आया उसन कामे मान हवा ह वई ये जो उपनिषद में आया वृत्तार्थ स्मरणार्थो निपात वृत्त अर्थ अतीत ऐसे हुआ था इसे स्मरण कराने के लिए ह वई ऐसे हुआ था कभी करके श्रुति में आया वृत्तार्थ स्मरण ऐसा आख्यायिक रूप से कहने से सुगम होता है ऐसे उद्दिष्ट नाम का राजा था ऐसे हुआ था कन से वृत्तार्थ अतीत अर्थ करने के लिए निपात है निपात वाजम अन्नम तदानादि निमित्तम श्रवयस्य सवाज सवा अन्न का दान अन्न उत्पादन करना रक्षण करना दान करना दानादि आदि निमित्तम अन्न दान करेंगे रहने के लिए वास देंगे उसके कारण जिसका जिसकी कीर्ति सब यस्य सवाज सवा रूढ़ित तो अथवा उसका नाम प्रसिद्ध वाज सभा था अर्थ अवयव का अर्थ लेकर के अन्नदान के कारण उनकी कीर्ति ऐसा तो हो है अतः नाम वाजश्रवा था रूढ़ी अर्थ तस्य अपत्यम उसका पुत्र का नाम वाजश्रवस किल विश्वजिता सर्वमेधेन ईजे लिट लकार में सर्वमेध सर्वसुदान या किया ईजे या किया तत्फलम कामेवान याग क्या फल इच्छा करते हुए कोई भी याग आदि कर्म निष्काम होकर करे तो अंतकोण शुद्धि के द्वारा ज्ञान प्राप्ति का साधन और कामना से करे जो फल चाहता है जिसके कर्म का जो फल प्राप्त होगा किंतु कामना से करे सारे अंग पूरा पूरा ठीक ठीक होना चाहिए निष्काम करता है तो अंग में कोई विकल हो गया मंत्र में कोई अशुद्धि हो गई तो कोई दोष नहीं कामना से जब करता है शुद्ध मंत्र होना चाहिए सारे अंग का के साथ अनुष्ठान होना चाहिए उसमें कोई व्यतिक्रम हो तो फल नहीं मिलेगा तो ये कामना से करता था सत्तस्मिन क्रतु सर्ववेदसम सर्ववेद समय धन सर्वस्व धनम ददो दत्तवान सारे धन को दिया टीका में सर्वकात कीर्ति सर्ववेदन का तो सर्वस्व दक्षिणा न ईजे सर्वस्व जिसमें दक्षिणा हो सारे धन को दक्षिणा देना जे काफी अजरम कृतवान या किया था सर्वस्व धनम दधो दिया तस्य यजमानस्य ह नचिकेता नाम पुत्र आस यजमान था राज सर्वस्व उसका पुत्र था कि नचिकेता नाम को किला प्रसिद्ध है था बभुव तंग ह कुमारं संतम दक्षिणा शून्यमानासु श्रद्धा विवेश सो मन्यत छोटा था सह कुमारम संतम कुमार होता हुआ भी प्रथम वयस में वैसे प्रथमे कुमार से कुमारी बनता है कुमार संतम दक्षिणासु नियमानासु गोसु गो सब लेते हैं दक्षिणा में रूप से देने के लिए दक्षिणा के लिए सब लेकर देते हैं तो देखे बूढ़ी बूढ़ी गाय को देते हैं श्रद्धा अभिवेश श्रद्धा आस्तिक बुद्धि है श्रद्धा उसमें आविष्ट हो गई आविवेश प्रविष्ट हो गई श्रद्धा इसे है बहुत पूर्व पुण्य सत्कर्म का फल है इच्छा करके नहीं होती कृति साध्य नहीं प्रयोजन से नहीं हम हाँ, छांदोग्य उपनिषद में आया श्रद्धा हो तो मनन करेगा मनन करने से ज्ञान होगा निधिध्यासन ज्ञान होगा और श्रद्धा होने के लिए निष्ठा सेवा करनी चाहिए सेवा करने के लिए कृति ये छांदोग्य नारद संत कुमार संवाद में आया शब्द यत शब्दते अथ मनुते अत्यधिक श्रद्धा हो तो उपदेश के बाद मनन करेगा मनन करेंगे तो ज्ञान होगा और श्रद्धा होगी कैसे श्रद्धा होने के लिए निष्ठा गुरु शुश्रूषा सेवा तत्परता तो सेवा तत्परता करने के लिए कृति इंद्र स्वयं अंतकण शुद्ध हो तो सेवा कर सकता है इससे पहले कृति हो कुछ साधन करे जप ध्यान आदि करे अंतकण शुद्ध हो तो सेवा कर सकता है सेवा करने से श्रद्धा अधिक होगी श्रद्धा अधिक हो तो मनन करेगा मनन से ज्ञान होगा ऐसे कहा गया तो श्रद्धा इसे है दैवी संपत्ति है अपने आप श्रद्धा आस्तिक बुद्धि शास्त्रीय मार्ग में आचार्य में होती है इसी प्रकार इसका ये नचिकेत में श्रद्धा प्रविष्ट होगी श्रद्धा हुई वो पूर्व पुण्य के कारण श्रद्धा प्रविष्ट होगी जैसे ऐसे भूत प्रेत किसमें प्रविष्ट हो जाते हैं वो स्वयं नहीं चाहता हुआ इसी प्रकार श्रद्धा कभी अपने आप हो जाती है ये कहा गया श्रुति में तद विज्ञानार्थम सगुरु में अभिगच समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम असाधारण साधक क्या जानता है ब्रह्मनिष्ठ क्या है श्रोत्रिय क्या है श्रुति कहती श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाए श्रुति का आदेश सार्थक कैसे होगा उपदेश तो अज्ञानी के लिए जो नहीं जानता है श्रोत्रिय क्या है ब्रह्मनिष्ठ क्या है वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास कैसे जाएगा तो उपदेश सार्थक तभी होगा ईश्वर कृपा से ऐसे महापुरुष का दर्शन करने पर उसके मन में ऐसी श्रद्धा हो जाती है जिसे अपने आप ही स्वीकार कर लेता है ये मेरे गुरु होंगे गुरु से स्वीकार करता अपने को समर्पित कर देता है तो इससे श्रद्धा अत्यधिक होती है ये साधक अनुभव करता है बहुत महापुरुष होने पर भी सबके प्रति समान श्रद्धा नहीं होती किसके प्रति अधिक श्रद्धा होती क्यों अधिक श्रद्धा हुई विचार करने पर उसका उत्तर उसके पास भी नहीं है क्यों होती युक्ति कुछ नहीं है कोई रूप को देखकर श्रद्धा है उम्र को देकर ये बात नहीं है शास्त्र हो तो सदा ये भी कोई जरूरी नहीं कोई आशा प्रभुता है तो ये भी नहीं है कुछ नहीं किंतु किसी के प्रति अधिक श्रद्धा होती है इसी प्रकार इसमें श्रद्धा प्रविष्ट हो गई वैसा श्रद्धा होने से सो मन्य तो उसने ऐसे चिंतन किया टीका में तम भाष्य में तंह नचिकेतसम कुमारम प्रथम वयसम कुमार है प्रथम वय उम्र वाला प्रथम पंचवर्षीयम दिया टिप्पणी कौमारम पंचमाब्दांतम पौगंडम दशमावधि पाँच वर्ष तक कुमार कहा जाता है और पौगंड कहता है दस दस वर्ष हो गया ऐसे दे दिया है अलग अलग प्रकार भेद है तो छोटा था संतम अप्राप्त प्रजनन शक्ति बालमेव तो फिर अनन्य मत दिया है टीका है में टिप्पणी में यौवन भाव विवक्षण वा यौवन नहीं था इस अवसर कुमार कह दिया षोडश वर्षात अर्वांचम सोलह वर्ष के पहले वयांसी चत्वारिते के यदाहु आद्य वयसी नादितम द्वितीय नार्जितम धनम न तपस्तप्तम चतुर्थे किं करिष्यसि प्रथम उम्र में अध्ययन नहीं किया द्वितीय उम्र में धन अर्जन नहीं किया तृतीय में तप नहीं किया तो चतुर्थ अवस्था में क्या करोगे अर्थात प्रथम वय में अध्ययन करना चाहिए चार विवाह करके 25 वर्ष तक अध्ययन करना चाहिए अध्यवय में द्वितीय में 25 से 50 तक गृहस्थाश्रम में जाते धन अर्जन करते कर्म करते धन अर्जन करना कर्म करना खाली धन अर्जन करके मकान बनाकर इकट्ठी करने का नहीं धन का धर्म करना है फिर तृतीय में वाहन प्रस्थाश्रम में वो तप प्रधान है तृतीय न तपस्तप्तम ऐसे गृहस्थाश्रम में भी तप होता है किंतु वानप्रस्थ तो केवल तप ही करना तप प्रधान गृहस्थाश्रम में कर्म प्रधान कर्म शास्त्रीय कर्म वो कर्म नहीं कि अपने कुछ व्यवसाय करना ही कर्म है घर मकान बनाना पुत्र पालन करना ये नहीं शास्त्रीय कर्म करना चाहिए विहित कर्म और ब्रह्मचारी अध्ययन प्रधान अध्ययन करने के लिए गुरुकुल वास सत्य हिंसा ब्रह्म ब्रह्मचर्य अब नियम के साथ अध्ययन प्रधान है तप प्रधान है वानप्रस्थ 50 के बाद पंचस्तरी तक आगे सन्यास में यदि ये पहले अध्ययन नहीं किया द्वितीय में धन धन कमा करके धर्म नहीं किया और वानप्रस्थ आश्रम में तप नहीं किया तो आगे क्या कर सो करोगे तो इसे चार भाग विधा विधान कर दिया अत्रिणी इति अन्याय कोई तीन भाग कर देते उम्र को स्त्री के लिए क्या स्त्री कभी स्वतंत्र स्वतंत्र नहीं रहनी चाहिए पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने पुत्रस्तु स्थविरे भावे न स्त्री स्वातंत्र्य अर्हति कुमार अवस्था में तो पिता रक्षा करता है कन्या की और युवा अवस्था में से भर्ता रक्षति यौवन युवा अवस्था में पति रक्षा करता है पति के अधीन रहना होता है और जो वृद्धावस्था हो तो पुत्रस्तु स्थविरे भावे स्थविरे भावे पुत्र रक्षा करता है पुत्र के अधीन पुत्र के अधीन रहता है ये माता भी न स्त्री स्वातंत्र्य होती स्त्री स्वतंत्र नहीं होती ऐसे कह करके अलग-अलग विवाह किया तो यहाँ कुमार सदस्य प्रथम वयस में पाँच वर्ष अर्थ किया अथवा अप्राप्त प्रजनन शक्ति प्रजनन शक्ति युवा अवस्था को प्राप्त नहीं हुई ऐसे बारह वर्ष के बाद चौहत्तर वर्ष के पहले छोटा था बालमेव बाल होता हुआ श्रद्धा का था आस्तिक बुद्धि शास्त्रीय मार्ग पर सन्मार्ग में आस्तिक बुद्धि अस्थि के आस्तिक है अस्थि परलोक परलोक है इसे बुद्धि और जो वेद की निंदा करने वाले उनको नास्तिक कहते हैं वेद आप्त वाक्य में वेद शास्त्र में श्रद्धा हो और उसमें सुन करके करने की प्रवृत्ति हो पूज्य बुद्धि आस्तिक बुद्धि ये श्रद्धा है पितुर हित काम प्रयुक्ता आविवेश पिता के हित काम प्रहित का इच्छा से ये श्रद्धा आ गई हित कामेन प्रयुक्ता श्रद्धा आविवेश प्रविष्ट होती प्रविष्ट हो गई जैसे जैसे बाहर से आ गई प्रविष्ट तो नहीं है किंतु श्रद्धा हो गई अपने आप हित करने के सोता पिता का हित करना चाहिए ये कैसे बूढ़ी बूढ़ी गाय देते मेरे नाम कह करके अच्छी अच्छी गाय को रखते उसको थोड़ा मन में श्रद्धा हो गई कि समय कस्मिन काले इत्याह दक्षिणासु नियमानासु दक्षिणा ऋतु को दक्षिणा देते ब्राह्मणों को व्य सदस्य सदस्येभ्यश्च ऋतिक ब्राह्मण जो आते हैं याग कराने के लिए उनको दक्षिणा देते हैं और कोई याग करने के लिए आते हैं लोग देखने के लिए ब्राह्मणों को बुलाते हैं अन्य दूर-दूर से ब्राह्मण जो सदस्य सदस्य उपस्थित है उनको भी दक्षिणा देते हैं कोई से कर्म करते समय बुलाते आप हम या, याग करेंगे आप आइए बड़े सम्मान के साथ निमंत्रण आमंत्रण देकर बुलाते रहने की व्यवस्था भोजन आदि व्यवस्था करते बाद में सत्कार करके सम्मान करके दक्षिणा देकर छोड़ते तो सदस्यभ्यश्च दक्षिणासु नियमानासु दक्षिणा के लिए देते समय विभागेन उपनियमानासु देते समय अलग अलग किस क्यों कोई दक्षिणा दे रहे गौ आदि दक्षिणार्थसु गोसुच गोसु स आविष्ट शब्द दक्षिणा के लिए गो जब ले रहे स नचिकेता आविष्ट शब्द आविष्टा श्रद्धा यस्मिन जिसमें श्रद्धा प्रविष्ट हो गई इस नचिकेता अमन्यत सो अमन्यत उसने इससे विचार किया अमन्यत का था आलोचितवान आलोचना विचार किया टीका में सदसी यज्ञ सभायाम ये अन्य मिलिता ब्राह्मण तेभ्यश्च सदस्य का था सदसी यज्ञ सभा में यज्ञ करते समय अन्य लोग आते हैं ब्राह्मण उनको निमंत्रण दे करके बुला कर लाते हैं अभिवेश शास्त्र में नियम भागवत कथा कराते हैं तो अन्य को भी बुलाते हैं जो श्रेष्ठ पूज्य उनको जा करके सम्मान के साथ बुलाना होता है तो आते हैं यज्ञ सभाएं ये अन्य मिलिता ब्राह्मणा तेभ्यश्च उनको भी दक्षिणा देते हैं श्रद्धा देना के लिए उससे मन में श्रद्धा आ गई और उसने विचार किया कैसे विचार किया पीतो दका जगधत्रिणा दुग्ध दोहा निरेंद्रिया अनंदा नाम ते लोकास्तान सगच्छति ताददन पीतोदका जगदतन पीतम उदकम यया सा पीतोदका जगधम या सा जगधतृण बहुवचन करेंगे तो पीतम उदकम भी गोभी तागाव पीतोदका अतः पानी पी लिया और आगे पानी पीने के भी सामर्थ्य नहीं जगधतृण तृण घास जितने खाना खा लिया मतलब आगे नहीं खा सके दुग्ध दुग्ध दोह ऐसा दुग्ध दोहन हो गया आगे दुग्ध दोहन करने के ही नहीं कुछ निरेंद्रिया निरिंद्रिया आगे कोई बच्चा देने वाला नहीं है आनंदा नाम ते लोका वो नाम लोका नाम आनंद आनंद आनंद रहित लोक प्राप्त करते सता ददन ऐसे गो को दान करते हुए सगच्छति यजमान को प्राप्त करता है जहाँ आनंद नहीं है अनानंदा सुख नहीं ऐसे असुख लोग को प्राप्त करते स्वर्ग प्राप्त नहीं करते हैं क्या देता हुआ कहां है ददत कहां है हाँ ता ददत है ददत है पुलिंग होगा तो ददन होगा तो नपुंस कर दिया ददत कर दिया न ददन ददन तो गया सत्रंत दान करता हुआ टीका में पीतम उदकम प्रागेव उत्तर कालम पान सूत्रपि अस्ति अर्थ उसका अर्थ है प्रागेव पहले पी लिया आगे उसको पान शक्ति भी नहीं पीने के लिए पीतोद इसी पीतोद का इत्यादि ना दक्षिणार्थ गाव विशेष्यन्ते पीतोदका का गाव दक्षिणा के लिए गौ कैसे पीतोदका पीतम उदकम याभि हम बहुवचन ता पीतोदका जिन्होंने पानी पी ले आगे पी नहीं सकते जगधम का तो बक्षितम क्या धातु है अदो जगधरी त्यप लप्तिकिति अद धातु के भी जगधि आदेश हो जाता है घस धातु हो जाएगा भोजन कर लिया अन्न भी बनता है अद जगधि लेप्त किति तादो किति भी जगदि आदेश होता है जगदा लेट्य नेता बनता है शिवसुर हलिच घस जाते भी जगधम भक्षितम तृणम अभिष्टा जगत तृणा दुग्धो दोहो में तो दोहन कर दिया में तो क्षीराक्ष दो शब्द का तो क्षीर है यासाम गवाम साता दुग्ध दुवा निरेंद्रिया का अर्थ अप्रजन सम प्रजनन समर्था प्रजनन के लिए समर्थ है तो आगे एक बच्चा देगी ये अप्रजनन समर्था न प्रजनन समर्था अर्थात बूढ़ी होगी जीर्णा गावे इत्यर्थ आगे बच्चे देने वाला नहीं है यास्ता एवं भूता गा ऋतिको दक्षिणा बुद्धिया ददत प्रयचन ये प्रयचन अर्थ कर दिया प्रथम पुण्य करके दक्षिणामुद से देता हुआ आनंदा का तो अनानंदा असुख नामान असुख नाम को इते तद ये ते लोकास तान सयजमान गच्छति ऐसे लोक प्राप्त करता है स्वर्ग प्राप्त नहीं करता है आगे टीका में तदेवम एन भाष्य में क्रतु असंपत्ति निमित्तम पितुर अनिष्टम फलम मया पुत्रेण सता निवारणीयम आत्मप्रदानेनापि क्रतु संपत्तिम कृत्वा एतेव मत्वा पितरम उपगम्य सहोवाच तदेवम ऐसा देखता है क्रतु असंपत्ति क्रतु की संपत्ति संपूर्णता संपूर्ति नहीं होती है ऐसे दान करने से जितने दक्षिणा देना चाहिए इतने देना चाहिए वो नहीं करते तो क्रतु काम्य कर्म पूरा नहीं होता है निष्काम कर्म में कुछ कम हो गया अशुद्धि पाठ भी हो गया कुछ हो गया तो दोष नहीं है सकाम कर्म तो ठीक ठीक होना चाहिए जैसे दक्षिणा कही गई इसे देना चाहिए कि स्वर्ण में कोई का प्रतिमा बना करके लक्ष्मी प्रतिमा बना कर देना है तो क्या करते हैं इतने सोना पतला इधर पतला करके उसमें चित्र कर देंगे लक्ष्मी ये लक्ष्मी प्रतिमा बना कर देनी चाहिए सोना का तो बहुत खर्च होगा है संपन्न होने पर क्या करेंगे बड़े बुद्धि काम करती है बिल्कुल पत्तल सोना इतने करके उसमें थोड़ा चित्र कर दिया रखियो करके ऐसे दे देते हैं जैसे वस्त्र देने के लिए भगवान को देते हैं वस्त्र देने के लिए क्या है ऐसे भगवान को देने के लिए वस्त्र भी अलग मिलता है <laughs> अलग वस्त्र होता है चढ़ाएंगे थोड़ा सा नहीं तो इतने थोड़ा एक गज कपड़ा लिया और उसमें पूरा याग हो जाए थोड़ा पाड़ कर डालो हाँ, तो नहीं तो सूत्र भी दे दो धागा थोड़ा चढ़ा दो <laughs> दुकान में जाने पर वो देखा है वस्त्र बड़े सेट आए दे दिया पर ये नहीं वस्त्र वो क्या करना है <laughs> दुकान पूछते क्या करना है पहले बताओ ना वो पूजा करना भग, अच्छा भगवान को देना है हाँ, लाओ लाया है छोटी-छोटी कपड़ा जो पहले तो हजार रुपया <laughs> साड़ी दिखाता था धोती अभी लाया पाँच रुपया में हो जाएगा इतने कपड़ा उसके लिए अलग है भगवान को देने के लिए और जो श्रद्धालु होते हैं ऐसा कोई होते है तो बोलते भगवान को देने के लिए इतने ऐसे कैसे देंगे हम तो अपने ना ही पहनते हैं किसी बंधु को भी ऐसा नहीं देते अब भगवान को देने के लिए ये क्यों देना अच्छा साड़ी अच्छा को नहीं दे सकते अच्छा साड़ी दो ब्राह्मण ले लेगा क्या आपत्ति किंतु ऐसा नहीं कर पाते हैं संपन्न होने पर भी जो देते भगवान के लिए अलग उसके लिए होता है उनका धोती भी अलग उपवस्त्र भी अलग सब अलग है ऐसे बहु चला देते समय ऐसा है अपने खाएंगे अच्छे चटापट बना कर खाएंगे अब भगवान के भोग लगाने के थोड़ा केला रख दिया नहीं तो थोड़ा इलायची दाना मिलता है इलायची नाम है इलायची भी नहीं है <laughs> थोड़ी मीठा उसको नहीं खाएंगे स्वयं भी नहीं खाएंगे कुछ कुछ बच्चे भी उसको नहीं लेते बोले ये क्या है तो भी बच्चे को दे दो नहीं तो डाल दो कोई बात नहीं ये कत्तु की असंपत्ति जैसे शास्त्र में कहा गया ऐसे देना चाहिए वहां चला की बुद्धिमता नहीं करनी चाहिए असंपत्ति निमित्त तो पितृ अनिष्टम काम्य कर्म करते समय ऐसा करे तो अनिष्ट होता है अनिष्टम फलम मया पुत्रेण सता निवारणीयम पुत्र पुन्नामा तरक नरका त्रायते पुत्र नरक से रक्षा करता है पुत्र इसे पुत्र गृहस्थ के पुत्र अवश्य होना चाहिए आगे श्राद्ध तर्पण पिंडदान करेगा इष्टव्यो इष्टव्या भव पुत्रः कदा एकोपि गयाम व्रजेत साथ में क्या बहुत पुत्र होनी चाहिए बहुत पुत्र कोई अपुत्र हो जाए तो कोई एक भी तो पुत्र होगा जो गया जाएगा पिंडदान करने के लिए एकोपि गया मृजे तो कोई एक भी तो गया जाएगा अर्थात गया में जा पिंड पिंडदान करने से पितृ लोक का उद्धार होता है इसलिए बहुत पुत्र होने चाहिए कोई कुल के कुल की रक्षा करने के लिए बुद्धि में नहीं कोई एक भी तो कोई हो जाएगा जो गया चल जाए पुत्र यदि गया में चल जाता है तो पितृ लोग बड़े प्रसन्न होते हैं पुत्र उपस्थित मात्र से पितृलोक बड़े खुश होते हमारा पुत्र गया गया में पिंडदान करने से पुत्ता पितामह प्रपितामह पूरा कुल का उद्धार होता है बड़े उसके शास्त्र में आया इसलिए गृहस्थ लोग तो अवश्य पिता माता के लिए श्राद्ध पिंडदान करना चाहिए ऐसे करते हैं पुत्र इसलिए होता है आगे श्राद्ध करते हैं ब्राह्मण भोजन आदि करते हैं तो पुत्र इसलिए है तो ये देखना मैं सतपुत्र होता हुआ पिता को जो अनिष्ट फल मुझे निवारण करना चाहिए पुत्र का ही कर्तव्य है पितरों को उद्धार करना दान पिंड दान करके निवारणियम आत्म प्रदान ना भी अपने को दान करके भी मैं अपने को दान मेरा ही प्रदान मुझे भी किसको दे दो कोई बात नहीं मेरे कारण तो धन रखते हैं मैं यदि धन सर्वस्व देना है सब धन को पुत्र भी तो धन है सब धन को देते तो पुत्र को भी दान कर दे यदि मुझे किसको दे दिया और धन मेरे नाम पर कैसे रखेंगे इसलिए आत्म प्रदान ना भी मैं मुझे ही दान कर दे किसको पुत्र को भी दे दिया किसको मुझे दे दिया तो जाने पर वो जैसे रखेंगे रहेगा नौकर बन कर कुछ करे तो आत्म प्रदान ना भी क्रतु संपत्तिम कृत्वा क्रतु संपत्ति क्रतु संपादन पूर्ति करके तो ये अनिष्ट फल को निवारण मुझे करना चाहिए मैं करूं एतव मत ऐसा मान कर समझ भी करके पितरम उपगम्य सहोवाच ददति तृतीय तृतीय मंत्र हुआ ये कहाँ नहीं नहीं तृतीय मंत्र भाष्य पूरा नहीं हुआ था ना नहीं वहाँ कहाँ इधर आ गया तृतीय मंत्र भाष्य हो गया सर अनानंद असुखा नामन इतेतद ते लोका तान से यजमान गच्छति तृतीय मंत्र अच्छा हाँ ठीक है उसके आगे सहोवाच पितरम तत कस्मे मां दास्यसीति द्वितीयं तृतीयं तहोवाच वेत्वा ददामि इति हाँ कृत्वा इतव मत्वा पितरम उवाच उपगम्य उवाच पिता के पास जा करके इतना अंश पूर्ण किया भाष्य में क्योंकि मंत्र आगे स उवाच ऐसा विचार किया फिर स उवाच तो विचार करके सोचा मैं अपना मुझे भी दे दूं दान कर दे कोई बात नहीं किंतु पिता के अनिष्ट को मुझे वारण करना मैं वारण करूं ऐसा विचार करके पिता के पास जा करके स उवाच स नचिकेता ने कहा पितरम पिता से कहा हे तत कस्मे माम दास्यसि इति तात के लिए तत कहा कभी कहते थे तात शब्द भी ठीक से नहीं बोल पाता है तात कहना चाहिए तत कह दिया माम कस्मे दास्यसि क्योंकि सर्व धन को देना है मैं भी तो आपका धन हूँ तो सब धन धन को देने तो पुत्र को भी दे देना पड़ेगा तो मुझे किसको देना मैं भी किसके पास जाऊं मुझे कहाँ कस्मे दास्यसि किसी वृत्ति के विशेष के लिए मुझे दे देंगे इति तो कहने पर पिता थोड़ा अपने व्यस्त है कुछ नहीं कहा द्वितीयम तृतीयम सहवाच फिर कहा तत कसमें थी कसमें मादास बच्चे से दे दो दे दीजिए दीजिए दीजिए एक दो तीन बार कहा ये तो हूँ वाच क्रोध दो करके मृत्यु वे तो आदधामी थी क्या मृत्यु को यमराज गुम दे देता हूँ तुझे ये ऐसा शब्द तो निकल गया टीका में पितरम उपगम सोहवासी पितरम हे तत तात कहना चाहिए हे तात कस्मै किसको किसको ऋतु की विशेष आय किस विशेष ऋतु को दक्षिणा के रूप से पुत्र को भी दोगे मुझे दे दोगे मामदास से मुझे दोगे क्यों सर्व शब्दान देना है तो पुत्र को भी देना दे, दे देना है किस ऋतु को दक्षिणा के लिए देना दोगे दास्य सिद्धि प्रयच्छ सीते तत ऐसा कहने पर एवं मुक्तेन पिता उपेक्षा मानो पी पिता उपेक्षा कर दिया बच्चा क्या बोलता करता बोलता रहता है छोड़ दिया बच्चा कहता है कि उपेक्षा मानो पी द्वितीयम तृतीयम अपिवाच पीर का कसमे मादास्यसि कसमे मादास्यसि बार-बार कहने लगा फिर पिता को क्रोध आ गया नायम कुमार स्वभाव इति क्रुद्धसन पिता तम पुत्रम किलोवाच मृत्यवे वयसता त्वा त्वाम ददामीति तो ये कुमार बच्चा बच्चा होकर के छल कैसे करता है बार-बार बोलता है तो नायम कुमार स्वभाव ये बच्चा स्वभाव नहीं ऐसे क्रुद्ध हो गया पहले तो बच्चा सोच कर उपेक्षा करता था मैं बार-बार कहता है बच्चा होकर के कैसे छल करता है ऐसे पूछता है ये कुमार स्वभाव नहीं ये तो ऐसा करता है तो क्रुद्ध हो गया क्रोध कहीं भी क्रोध ठीक नहीं है तो क्रोध हो गया क्रोध होकर शब्द निकल गया तम पुत्रम किलोवाच आम त्वाम ददामि मृत्यु विवायु सता तुमको मैं देता मेरे महाराज को स एवं उक्त पुत्र एकांते कर ऐसा कहने पर उक्त कह स एवं उक्त कह पुत्र केन उक्त पित्रा उक्त इसे कहा गया पुत्र महाराज को दे रहा हूं एकांत कर दीर्घ चिंता करने लगा परिदेवयांच कर चिंता दीर्घ चिंता करने लगा कथम कैसी चिंता के चिंता किया बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यम किंचिद यमस्य कर्तव्यं यन्मयाद्य करिष्यति बहुनाम प्रथमो एमि बहुनाम शिष्य पुत्र में मैं प्रथम मुख्य वृत्ति से प्राप्त होता हूं शिष्य आदि की सेवा करता टीका में गच्छामि प्रथम होता हूं और बहुनाम मध्ये मध्यम में होता हूं तो कभी नीचा कनिष्ठ नहीं होता हूँ मतलब बहुत पुत्र शिष्य में मैं प्रथम प्रधान वृत्ति में कभी मध्यम वृत्ति में कभी अधम वृत्ति नहीं हूँ तो भी मुझे इसे पिता ने कहा तो इसका कोई प्रयोजन जरूर है किम से यम से कर्तव्यम क्या यम का कर्तव्य है यह मया आद्य करिष्यति पिता मेरे द्वारा ये कराना चाहते हैं यम का क्या कार्य है जो मेरे द्वारा कराना चाहते पिता मया करिष्यति पिता च करेंगे मया मेरे द्वारा क्या यम का कार्य में करूं टीका में यथावसरम और इष्टम ज्ञात्वा सुसुषण प्रवृत्ति मुख्या यथा इस अवसर समय को देख करके गुरु को क्या इष्ट समझ करके सुसुषा में प्रवृत्ति मुख्य है और दूसरे है ये प्रधान वृत्ति आज्ञावसन मध्यमा गुरु कहते ऐसा करो तुरंत कर लिया आज्ञावसन तद अपरिपालने अधमा अपरिपालने न कहने पर भी वो जैसे सुना नहीं सुना उधर चला गया नहीं किया तो आज्ञा का पालन नहीं करे ये अधम वृत्ति है मया दत्तेन यत कर्तव्य मध्य यमस्य करिष्यति तत् किम कर्तव्यम आसीत मुझे दे करके जो कर्तव्य है यम का जो करना चाहते वह किम कर्तव्य आसीत क्या था क्या था क्यों कैसे कहा क्या है करना है नासी देव विधान अभावात ऐसे कोई शास्त्र में तो विधान नहीं है जैसे हवि प्रदान करते हैं इसी प्रकार यम को कोई देना का पुत्र इत तो शास्त्र में का विधान नहीं बहुत विधान गो हिरण्य आदि दान करने के लिए पुत्र को दे दो कोई बात नहीं ऋतु को देना चाहिए यम को देने का ऐसा तो विधान कहीं नहीं है इसलिए कोई प्रयोजन तो नहीं है सोचा समझा तो फिर क्यों कहा कथन तरी हुए उत्तवान इतः नूनम भाष्य में आया सवेमुक्त पुत्र विचार किया कथम इत्युच्यते बहुनाम शिष्यानां पुत्रानां वा एमिकात गच्छामि प्रथम सन्मुखे वृत्त्या शिष्य में अथवा पुत्रों के बीच में शिष्य हो पुत्र समानतर रहे प्रथम गच्छामि सन प्रथम सन मुख्य वृत्ति आदि वृत्तिया मैं मुख्य रूप से रहता हूँ बहुत में बीच में और कभी-कभी मध्यमान कभी-कभी जान नहीं पाए क्या करना चाहिए गुरु कहते काम करो तो कर लेते हैं तो मध्यमानां च बहुना मध्यमान पुत्र शिष्य विषय बहुत है मध्यम मध्यमयाव वृत्त्याव रहता हूं मैं न अधमया कदाचित अभी कभी तो अधम वृत्ति में नहीं रहता हूं कहे और आज्ञा पालन नहीं करे ये तो अधम हो जाएगा अभी पिता ने कहा तुमको यमराज को देता हूं आज्ञा होगी तो करना ही चाहिए तम एवं विशिष्ट गुणमपि पुत्रम ऐसे विशिष्ट गुण वाले में होता हूं मुझे पिता ने कहा मृत्यवे त्वा ददामि इति उतवान पिता पिता ने कहा मृत्यु को देता हूं स किम से यम से कर्तव्यम प्रयोजन मया प्रत्ययन करिष्यति यम का क्या कार्य मेरे द्वारा कराएगी पिता करना चाहते हैं मुझे दे करके यत कर्तव्य मध्य जिसको मुझे करना है ऐसे विचार करते करते फिर पास ऐसे कुछ विधान नहीं कभी पुत्र को यमराज को दे दे दक्षिणा ऐसा तो नहीं है नूनम प्रयोजनम अनपेक्षेव क्रोधवशात उत्तवान पिता ये समझ लिया प्रयोजन वास्तव नहीं है किंतु क्रोध के कारण कह दिया फिर भी यदि कह दिया क्रतु संपन्न करते समय अनुष्ठान करते समय सत्यवासन करना चाहिए सत्यवासन तो हमेशा करना चाहिए अरे इसे विशेष तल पर सत्यवासन नहीं करना चाहिए मिथ्यावासन नहीं करना चाहिए अब ये समय कर्म करते समय कुछ निकल गया तो मिथ्या हो जाए यदि नहीं पालन करे तथापि वचो मृषा महाभूत पिता के वचन मिथ्या नहीं हो इतव मत्वा परिदेवना पूर्वक महा फिर दीर्घ चिंता करके फिर कहा पितरम शोकाविष्टम किम अयुक्तमिति पिता के मुख से निकल गया मुख शब्द मृत्यु को देता हूं तो फिर पिता सोचते हैं मैंने क्या कह दिया शोक से आविष्ट होकर के किम अयुक्तम मैं क्या कह दिया पिता सो सोचते ये भी दिखा देकर समझ लिया उनको देखा ये बड़ी चिंता करते पिताजी तो वही सम चिंतन करके पिता से फिर बोलता है पुत्र मिथ्या तो कभी नहीं बोलना चाहिए किंतु ऐसे सत्कर्म के समय गुरु लोग जन के पास मंदिर में ऐसे कहीं भी मिथ्या भाषण मिथ्या नहीं बोले कुछ लोगों का अभ्यास हो जाता है मिथ्या बोलना विचार नहीं कर पाते मिथ्या बोलने से कितने हानि होती नहीं बोल करके मिथ्या भाषण करते ऐसा नहीं एक सत्य धर्म पालन करने के लिए प्रयास करें मिथ्या शब्द निकल जाए तो फिर सत्य बोले एक ही शब्द मिथ्या निकल जाने पर फिर उसको छिपाने के लिए कितने उल्टा पाले बुद्धि उस समय नहीं हुआ आगे फिर बुद्धि काम करेंगे अलग प्रकार कहेंगे फिर कुछ कहेंगे फिर कुछ कहेंगे एक मिथ्या के लिए कितने मिथ्या बोलनी पड़ती है साहब सच बोलने से कोई आपत्ति नहीं है इसलिए वो हमेशा साधक को अभ्यास के कारण से हो जाता है झूठ बोल देते हैं किंतु अभ्यास करें धीरे-धीरे कि झूठ नहीं निकले शब्द एक में मिथ्या नहीं बोले जितने वो सत्य हो बोल सके सत्य यदि करेगा तो बहुत सत्कर्म निषिद्ध कर्म छूट जाएगा सब कुछ साधन तपस्या सब हो जाएगा पूरा हो जाएगी सत्य के कारण इसे सत्य को बड़ा साधन बताया सत्य न लभ्य तपस्या ये आत्मा तप है सत्य से सब प्राप्त होता है तो पिता के वचन झूठ हो जाएगा ऐसा सोच करके क्रोध के कारण कह दिया फिर मुख से निकल गया तो ऐसा होना चाहिए करना चाहिए अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे सस्यमेवामर्त्य पच्यते सस्य मेवा जायते पुनः अनुपस्य यथा पूर्वे पूर्व में जैसे पिता पितामह पहले थे अतिग्रंत उनको देखो क्रम से विचार करो जैसे वो करते थे आप भी ऐसे करो वो कभी झूठ नहीं बोलते थे प्रतिपस्य तथा परे और आगे भी जो है वर्तमान है साधु है महापुरुष है वो भी देखो सत्य सत्य बोलते हैं सत्य भाषण करते हैं और सस्यमेव कोई मिथ्या भाषण करके मृत्यु अजर अमर हो जाएगा झूठ बोलने से झूठ बोलने से क्या लाभ हो जाएगा झूठ बोल देने से प्रारब्ध को टल दे टला टाल देगा कोई झूठ बोल करके अधिक प्राप्त कर लेगा मिथ्या भाषण करेगा तो अधिक धन इकट्ठी कर लेगा अधिक सम्मान प्राप्त कर लेगा अधिक ज्ञान प्राप्त कर लेगा क्या अधिक प्राप्त कर लेगा प्रारब्ध में जितना अधिक प्राप्त नहीं करेगा और यदि झूठ बोलकर प्राप्त करे आपके पास जितने आना था इतने आएगा झूठ नहीं बोले सच बोले तो प्रारब्ध में तो आपके पास आएगा झूठ नहीं बोलने पर भी आने वाला है ये झूठ बोलकर आ गया तो झूठ बोलने का पाप होगा ना नहीं जो आपके प्रारब्ध में इतना आना है अधिक नहीं आ सकता है झूठ बोल करके आपको मिल गया आ गया तो सोते हैं हम बड़े बुद्धिमान झूठ बोल के उस में हम ले आया लोग ऐसे झूठ बोल के धन ले लेते ठग लेते हैं जो धन आपके पास अपने आप आना था मिथ्या भाषण करके आपने लाया तो धन तो प्रारब्ध कर्म था आपके पास आ गया जो झूठ बोला पाप आपने उसका फल भोगना पड़ेगा और कोई झूठ बोल करके ऐसा होगा प्रारब्ध को टाल दिया कोई झूठ बोल करके अभी तक हुआ है तो मरण को टाल दे तो जो अजर अमर कोई हो जाए बूढ़ा भी नहीं होगा और अमर भी कोई हो जाए ऐसा तो नहीं होता है सस्यमेव मर्त्य पच्यते जैसे सस्य है ऐसे मर्त्य पक जाता है सस्य गेहूं धान उरद आदि खेत में डालते हैं वो समय आने पर पक गया पक जाने पर खेती से काट कर लाना तो नष्ट हो जाएगा ऐसे नहीं कोई आगे रहेगा एक साल दो साल तीन साल नहीं रहा उसको उठा कर उखाड़ कर ले जाते कुछ को उखाड़ लेते कुछ काट कर ले आते सस्य के समान मर्त्य पच्यते पक जाता है और सस्य में वह आ जाए थे तो पुनः फिर सच दोबारा होता है डालते बीज इसी प्रकार मर जाता फिर जन्म लेता है ये तो चल रहा है मैं मर जाता जन्म झूठ बोलने से कोई अजर नहीं हुआ है अमर नहीं हुआ मरना पड़ेगा फिर मर जाएगा फिर जन्म होगा तो क्यों झूठ बोलना झूठ बोल के क्या प्राप्त करना झूठ बोल से धन ज़्यादा मिल जाएगा सम्मान ज़्यादा मिल गया कोई लोग सोते झूठ बोल करके मिथ्या कुछ देखा करके लोग उसे सम्मान प्राप्त कर लेते हैं ज्ञान हो गया कोई कहेंगे भगवान का दर्शन कर लिया लोगों की सभा बीच में मैंने भगवान का दर्शन किया लोग मान लेते दर्शन क्या कर सम्मान करते जो भगवान का दर्शन किया करके नहीं कहे तो भी क्या उसको सम्मान नहीं मिलेगा सम्मान जितने होता है मिलेगा भगवान का दर्शन करना कहने पर कभी-कभी किसको लोग मान लेते अच्छे व्यक्ति कह दिया लोग मान लेते कुछ लोग नहीं मानते ऐसे बहुत लोग विचार करते बोलते ये ये सभा में कहने का क्या जरूरत है सम्मान मिलने के कहता है झूठी बोलते तो है ये कहने की आवश्यकता क्या है तो नहीं मानने वाले बहुत होते इसलिए सम्मान मिल जाएगा झूठ बोलने से भी नहीं है झूठ बोलने से क्या मिल जाएगा धन मिल जाएगा सम्मान मिल जाएगा धन यदि मिलेगा कभी झूठ बोल के लिया ये धन आपको मिलना था तो मिलेगा नहीं तो झूठ बोलने पर भी नहीं मिलेगा कोई व्यक्ति भोजन दे रहा है जो जो भूखा है उनको देंगे कोई सब लोग कहेंगे हम भोजन क्या हुआ सब हम भूखे भूखे भूखे पांच दस व्यक्ति भोजन देने के लिए पचास व्यक्ति इकट्ठे हो गए सबको मिल जाए झूठ तो सब बोलते हैं खाने वाले दस बीस उसमें भूखे बाकी सब खा करके वो तो हम भी हमारे पास हम झूठे एक छत्ता देंगे जिसके पास नहीं उसको देंगे अपने पास तो है किंतु तो थोड़ा सा जंक लग गया है ये नया ले लेंगे नहीं तो थोड़ा वो है और दूसरा ले लेंगे जिसके पास नहीं के हमारे पास नहीं हमारे पास नहीं किंतु दस देना है पचास है सबको मिलेगा क्या झूठ बोली से मिल जाएगा नहीं मिलेगा इसी प्रकार सर्वत मिथ्या भाषण करने से यदि कुछ प्राप्त हो गया समझिए अपने प्रारब्ध में तो प्राप्त हुआ और मिथ्या नहीं बोलने पर भी मिलने वाला था मिलना है किंतु झूठ बोला तो पाप करना है इसलिए पुत्र कहता है ऐसे देखो सस्य में वे मरते हैं पचते हैं फिर आप जन्म होते हैं इसलिए अपने सत्य वचन का पालन करो पुत्र पिता से कहता है उसी से शास्त्र श्रवण करते समय कुछ कुछ शिक्षा ग्रहण करना पड़ता है क्या करना चाहिए विचार करके सीखना पड़ता है ये सीख कर अभ्यास करने पर मार्ग पर चले तो अवश्य प्राप्त होता है फल ऐसे विचार करें प्रारब्ध के स्वरूप को विचार करके प्रारब्ध में जो है वही मिलेगा अन्यथा नहीं हो सकता है मरने मृत्यु से डरने का नहीं जब तक आयु है तब तक कोई नहीं मार सकता है आयु समता होने पर कोई नहीं रख सकता है इसी प्रकार निश्चिंत होकर के भगवान का भजन करना चाहिए और साधना करने के रास्ता पर चले अवश्य लक्ष्य की प्राप्ति होती है ऐसा निश्चय करके सन्मार्ग में चलना चाहिए शास्त्र तो मार्गदर्शन कराते हैं मार्गदर्शन पर उसी मार्ग में चलना अपना कर्तव्य है ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु